से निकाल दिया तो वहां पर फिर कुंभकर्ण से ही बताता है कि मेरी छाती में लाभ मारी वो उल्टा नहीं होता तो उसकी जो वही अपनी जो उसके छाती की का दर्द तो मिट गया हो इतने दिन में शायद और कालापन भी शायद मिट गया हो लेकिन उसके चित्र में जो उसके संस्कार पड़ गए वो जल्दी नहीं तो बात इसीलिए कहते हैं कि देखो तलवार का मारा तो व्यक्ति जो है उसकी तो घाव का पुर जाए भाले को मारो गोली को मारो शरीर में घाव पुर जाए लेकिन अगर कोई बात कर दो जिसके चित्र में जिसका तो प्रभाव पड़ जाता है तो उसके वो जो वो घाव नहीं पुरता मतलब पर यहाँ तक हो सकता है अगले दिन में भी न पुरे वहाँ पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है तो वो जो संस्कार पड़ा हुआ उसको जो लात मारने का जो उसके चित्र के ऊपर प्रभाव पड़ गया तो उसका परिणाम ये हुआ कि उसके चंद्रमा में भी दिखाई देता है राहु ने उसको मारा है बस इसीलिए काला हो गया मारे राहु सपनी कहे कोई पुर महापरि श्यामतास हुई कोई कहे की रति मुख पीना सारथाज सस कर हरीना अब कोई कहे कि मैंने तो अब अगली अगले की बात सुनो अब नंबर तीन किसका नंबर आता है अंगत का नाम आता है इसलिए ये बात अंगत की है और अगर तीन तीन लोगों की बात तो आपको मालूम हो जाए कि तीन ने किसी ने किसी क्या कहा और चाह रही हो तो कहते हैं कि चौथे ने ये बात कही तो आप अपने आप जान जाओगे किसने ये बात कही अंदर विपरीत से पता चल जाएगा तो वैसे ये जो है ये कहते हैं कि दो कह जब रतिन जी रतिन कहते जब ब्रह्मा जी ने रति का निर्माण किया तो बड़ी सुंदर बनाई काम और रति बहुत सुंदर है काम की पत्नी रति उसकी जब उसकी रचना की गई बहुत सुंदर उसका रूप बनाया गया तो ब्रह्मा जी को सुंदरता की जरूरत पड़ी कहाँ खिला में सुंदरता जगह जगह सब सुंदरता सब दी गई गई तो चंद्रमा भी बड़ा सुंदर लगा तो चंद्रमा की जितनी सुंदरता थी उसमें से निकाल दी ब्रह्मा जी और का मुख बना दिया तो उसकी सारी चंद्रमा की सुंदरता तो चली गई उसमें और चंद्रमा में हो गया छेद उसका बता लिया सब पसंद तो उसका संभाव तो कट गया छेद हो गया तो सार भाग सच कर हर लीना उसमें से हर लिया निकाल लिया तो क्या हुआ छिद्र से पकड़ इंदु उर्माही इसे चंद्रमा के बीच में वो छेद काला जो हो आर पार दिख रहा है पीछे क्या दिख रहा है आर पार तेरी तो मध्य देखिए नव पर छाई बस उसी के पीछे से जो काला काला दिख रहा है आकाश का कालवा चंद्रमा के भीतर उस पार की दिख रही है पूरा चंद्रमा होता तो सब अब पूरा चंद्रमा नहीं है बीच का भाग उसका निकल गया है तो उसको हमें जो काला दिख रहा है आकाश दिखा से पीछे वाला तो इस प्रकार से दिखाई देता तो अब इससे ये अब इनमें सबने अभी अंगत युवराज है और इसका अभी विवाद भी नहीं हुआ है हम्म? इसमें अभी जो है वो उस प्रकार के काम शक्ति की प्रबलता के कारण से उसको यही दिखाई देता है कि रथ सबसे ज्यादा सुंदर है उसका ध्यान उस तरफ जाता है तो काम और रथ ही ये जो इस प्रकार से ये उसके बुद्धि में छाए हुए हैं तो उसका अपनी अवस्था के अनुसार अपनी बुद्धि के अनुसार वो इस प्रकार से देखता है ये कहते हैं उसके बाद जब तक ये बात उसने अंगद में कही कही तब तक भगवान ने अपनी बात भी एक और कह दी पहले तो एक उत्प्रेक्षा भगवान ने की थी तो लेकिन भगवान ने ये सोचा कि जब चंद्रमा से बात पूछेंगे काला काला इस प्रकार से तो ये सब लोग कोई अब हम लोग इस प्रकार के युद्ध के क्षेत्र में आए हैं तो शत्रु पक्ष और हम आपस में दूसरे दोनों के शत्रु हो गए तो चंद्रमा भी किसी को शत्रु दिखाई देगा उन्होंने सोचा इस प्रकार से लेकिन किसी को शत्रु नहीं दिखाई दिया सुग्री में दिखाई दिया तो पत्नी की परछाई दिखाई दे रही उसमें तो उसमें कोई चंद्रमा तो सब कुछ तो हमारा हुआ नहीं अगर ये दिखाई दे गया कि उसमें जो है वो राहु ने चंद्रमा की लात मारी है तो चंद्रमा हमारा सत्र नहीं हुआ बल्कि रक्षणीय हो गया अब हम चंद्रमा की सहायता करें बिहार की लात मारी राव ने तो राव वगैरह का हम खड़े हमारा शत्रु लेकिन चंद्रमा तो नहीं होगा अगर उसके चंद्रमा का भाग निकाल करके ब्रह्मा जी ने रति का मुख बना दिया तो भी चंद्रमा हमारा शत्रु नहीं हो सकता लेकिन भगवान को तो समय चंद्रमा शत्रु दिख रहा है कहते हाँ? तो शत्रु की बात किसी ने कही नहीं तो कहते शत्रु की बात तो बताओ तो भगवान कह रहे हैं अपनी शत्रुता बता रहे हैं उसको कहते प्रभु कहे कर बंधु सक तेरा कहते ये चंद्रमा जो है इसका भाई जो है वो हो दोनों ही समुद्र से पैदा हुए चंद्रमा भी समुद्र से निकला विष्णु समुद्र से निकला तो दोनों भाई भाई हो गए तो जब दोनों भाई भाई हो गए तो दोनों को बड़ा प्रेम हो गया आपस में भाई भाई प्रेम होता ही हो तो चंद्रमा को किससे बड़ा प्रेम है तो उसने क्या किया अत तो प्रिय निज उद्दीन ने बसेरा इसलिए चंद्रमा ने जिसको अपने हृदय में स्थान दिया अपने हृदय में लगाए हुए जिसको चंद्रमा तो दुख काला है तो वो चंद्रमा के हृदय में चिपका हुआ है विष इसलिए जो वो हो वो वहाँ काला दिख रहा है और फिर चंद्रमा क्या करता है जब चंद्रमा की किरणें वहाँ से चलती है तो चंद्रमा में सभी तो किरणों में वैसे अमृत है लेकिन वो अमृत की भले ही किरणें जब दुख से होकर के चलेगी तो विषाक्त हो ही जाएगी फिर क्या इसलिए चंद्रमा की किरणें जो विषाक्त हो गई अब जब पृथ्वी जब जो किरणें आते हैं उनमें उनमें कुछ नहीं उनमें अमृत अमृत कुछ नहीं अब तो चंद्रमा की किरणों में विषय दूषित सकते कहते हैं दुष्ट संयुक्त कर निकर प्रसारी कर निकर मना उसकी किरण है चंद्रमा चंद्रमा अपनी किरणों को फैला रहा है वो कहते हैं दुष्ट संयुक्त विषाक्त किरणें हैं वो चंद्रमा अपनी फैला रहा है और जागृत ग्रह बन नर नारी और उसमें जो जितने भी स्त्री पुरुष जितने ग्रह बनते है उनको सबको वो जला रहा है माने गिरावस्था में जो चंद्रमा का प्रकाश लोगों को दुख देने वाला होता है सुख नहीं देता दुख ही देता है तब देखो इस प्रकार से भगवान ने चंद्रमा को शत्रु रूप में वर्णित कर दिया और अपनी गिरावस्था सीता के उसमें स्मरण सब लोगों को बता दीजिए सीता जी को जो है रावण हरण कर ले गया तो वहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास इस प्रकाश नहीं है तो चाहे सीता जी की बात समझ लो कि सीता जी का जो है वो ग्रह के कारण सीता जी दुखी है तो उसमें उनको विषाद के करने से भगवान उनको दुखी कर रहा है <clears throat> और चाहे भगवान की समझ लो अगर आपको भगवान से ज्यादा भक्ति हो बड़ा प्रेम हो और भगवान में आप न देखना चाहो कि ग्रह बंद हो सकते हैं कदापि तो सीता जी को मान लो कि सीता जी इस प्रकार के ग्रहवंत नर नारी सभी के लिए बताया इसलिए सीता जी जो है वो भगवान श्री राम जी के ग्रह में जाते हैं वो तो रो रहे हैं उसमें तो कुछ भी बात ही नहीं लेकिन भगवान श्री राम जी भी सीता के वियोग में ढोए हैं तो पूछ रहे हैं इसलिए उनको भी जो है इस प्रकार से जो है वो चंद्रमा भक्ति कर रहा है ये सब बात भगवान की हुई इसके बाद में क्या होता है तो हनुमान जी झटपट बोले उसके बाद देर नहीं लगाई कहा कि ये क्या बात आपने बोली और कहते हैं कि कहा को सुनो प्रभु अब कहने लगे भगवान सुनो हनुमान जी कहते हैं सस तुम्हार प्रियता अरे ये भगवान जी आपका शत्रु नहीं है ये तो आपका भक्त है प्रिय भक्त आपका है ये कैसे पता लगे कहा ये चंद्रमा में जो काला पानी ये विशेष नहीं है ये तो आप आइए उसके हृदय में बैठे हुए तब मुहूर्त विदूर बस तब आपकी आपकी मूर्ति जो चंद्रमा के हृदय बात कर रहे हो आप ही करेंगे सार है जो काला काला दिख रहा है वो आप ही काला काला रहे श्याम वरण आपका है वो आपको उसके हृदय में दिख रहा है सब मूर्त विदूर वसत सोई श्यामता आभास वही श्यामता वहाँ चंद्रमा में दिख रही अब देखो ये ये जो हनुमान जी का हृदय उनके हृदय में सदा भगवान बास करते हैं तो वो जानते सबके हृदय बात करते हैं हमारे हृदय बात करेंगे तो चंद्रमा के हृदय बात नहीं करेंगे भगवान तो सब जगह जानते हैं तो जिसके हृदय में भगवान पास करते उसे दिखाई देते हैं उसे दिखाई देता है सबके हृदय भगवान पास कर रहे हैं हमारे हृदय में पास करते दिखाई देते दूसरी बात ये कि जब भगवान लेटे हुए हैं तो अपना बाण भी सुधार रहे हैं हनुमान जी ने भी देखा कहीं ऐसा न हो कि बाण भगवान उठावे धनुष पर चढ़ाने चंद्रमा को मार दें कहते अरे ये दुश्मन आ जाएगी चंद्रमा आकाश में ये हमको जला रहा है तो कहीं बाण न छोड़ू तो उसको बाण में छोड़ दे शत्रु भाव उसको मिटाने के लिए कैसे हनुमान जी ने कहा अरे वहां पे शत्रु तो नहीं तो कहीं चंद्रमा को बांध न मार दे चंद्रमा गिरे आज नीचे तो इनका बड़ा उपद्रव हो जाए तो इसलिए हनुमान जी ने बचाया कहा कि नहीं नहीं बाण को मारने की जरूरत नहीं है आप बाण आप अपने पास सुरक्षित रखिए और कहीं काम आएगा कि चंद्रमा को मारने की जरूरत नहीं है चंद्रमा तो आपका भक्त है पवन कने के वचन सुनी पवन कनय हनुमान जी के पास पवन कने बोल करके इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि इससे सूचित होता है वो बहुत जल्दी हनुमान जी ने जैसे हवा का झोंका आवे एकदम से आवे पवन के पुत्र होने के कारण से बड़े वेग से जहाँ हनुमान जी ने वेग दिखाना होता है जल्दी दिखानी होती है तहाँ पवन पुत्र का स्मरण करते तो इसलिए कहते तो पवन तने के वचन सुने हंसे राम सुजान भगवान श्री राम जी जो उन्होंने हंस दिया कहा तो हनुमान जी किस प्रकार के मैंने और किसी की बात हंसने योग्य नहीं थी हनुमान जी के हंसने बाद मैंने भगवान प्रसन्न हो गए हंसे मैंने उपहास नहीं किया खराब नहीं माना प्रसन्न हो गए अब आप देखेंगे कि वहां पांच लोग सब मिलाकर और पांचों लोगों में से चार लोग भगवान सहित मिला करके चारों लोग जो कुछ भी उत्प्रेक्षा करते हैं वो भौतिक उत्प्रेक्षा करते हैं शक्ति बुद्धि भौतिकवादी एक हनुमान ही ऐसे हैं जिनको भी परमार्थ की बात करते हैं उनकी उत्प्रेक्षा परमार्थिक परमार्थिक माने ज्ञान की है भक्ति की है परमार्थ माने ये जो ज्ञान उपासना भक्ति इसकी बात भी ये परमार्थ है उसी की बात हनुमान जी करते हैं और बाकी सब लोग बस तो यहीं तक जो वो हो किसी के क्षेत्र में रहते हैं उसके आगे नहीं बढ़ते तब भगवान को लगा के देखो चित्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए जैसे हनुमान जी की आप कहीं जो हो लेकिन परमार्थ भाव सदा रहना चाहिए सदा हृदय में भगवान का स्मरण रहे सदा चित्त शांत रहे संतुलित रहे और आपकी भाव भूमिका जो वो हो आत्मभाव भाव में परमात्म भाव रहे आप बुद्धि भाव में जीव भाव में शरीर भाव में ये सब नहीं होना चाहिए जब देखो तो दुनिया की बात है जब देखो तो दुनिया की बात है ये सारा सब दिन का दिन बीत जाता है महीने के महीने बीत जाते हैं बात क्या कर रहे हैं चर्चा क्या हो रही है विचार कहाँ हो रहे हैं बस दुनिया दुनिया की ये कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं है हनुमान जी जैसा हो जब उसको ये दिखाई दे कि सर्वत्र परमात्मा ही दिखाई दे सर्वत्र परमात्मा भी दिखाई दे अपने अंदर भी परमात्मा ही दिखाई दे सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दे चर्चा हो तो वही बात की चर्चा हो तब ये शास्त्र कहता है सृष्टि होना चाहिए तब कहते हैं भगवान राम प्रसन्न हुए सुन करके और इतने प्रसन्न हुए भी ऐसे मन सिखला गया क्या क्या कह रहे भगवान और भगवान कहते हैं सुजान सुजान मन भगवान बड़े मान ज्ञान निधान है तो देखो भगवान ने बड़ी कृपा पूर्वक पहले चंद्रमा का उदाहरण लेकर के पूछा और पूछ करके बातें इस प्रकार की प्रारंभ की और जैसे और लोग बोल रहे थे उसी प्रकार से भगवान नाम ने भी अपनी युक्ति अपनी लगाई लेकिन सब ये भगवान ने भूमिका इस प्रकार की थी आप ये तो कह सकते हो कि तीन व्यक्तियों में से हनुमान जी श्रेष्ठ है लेकिन भगवान ने जो सब विनोद के लिए इस प्रकार की लीला की इसलिए और अन्य लोगों के साथ मिलकर के भौतिकवादी बातें की जिससे कि अन्य लोगों को गुस्सा क्योंकि तो भगवान कभी परमात्मा की बात करने लगे तो उनके सामने भला दूसरा कौन संसार की बातें करेगा इसलिए भगवान जो वो हो अन्य लोगों के बीच में दूसरे दृष्टिकोण से बात करते हैं लेकिन हनुमान जी का चित्त अपने स्थान पर ठीक ठिकाने हैं और उनको यही दिखाई देता है कि भगवान राम ही परम परमात्मा है उन्हीं की सेवा में लगे हुए इस वर्ण से मात्र भी उनको समझे दक्षिण दिशा लोक तब बोले कृपा निधान बस उसके बाद भगवान जो वो हो उन्होंने ये बात खत्म हो गई तब दूसरा प्रसंग आता है भगवान ने दक्षिण दक्षिण दिशा ने उनका भगवान का दाहिना हाथ घुसी है उसी तरफ दक्षिण दिशा और हाथ भी दक्षिण कहलाता है अपने दाहिनी तरफ जब भगवान ने देखा तो दक्षिण दिशा थी और वहां पर उन्होंने देखा तो उन्होंने कुछ लंका के ऊपर चमचमाता हुआ दिखाई दिया तो वहां जो कुछ दिखाई दिया उसका देखो भगवान कुछ प्रकार से बोलते हैं आगे की बात देख विभीषण दक्षिण आशा घन गमंड दामिनी दिलासा मधुर मधुर गरज सघन घोरा कोई भ्रष्ट जन उपल कटोरा कहत विभीषण सुनो कृपाला कोई न दलित न बारिद माला लंका शिखर पर आधारा कहाँ दस कंदर देख अखारा छत्र मेघ दम्बर सिरधारी सोई जन जलद घटाय शिकारी मंदोदरी श्रवण पाचक्का सोई प्रभु जनु दामिनी गमन का काल मृदंग अनुपाय रव मधुर सुनो सुर भूपा प्रभु मुस्कान समुझे अभिमाना चाप चढ़ाए कान समझाना छत्र मुकुट काटंक तब हते कही बान सबके देखत मही परे मरम न को जान अस कौतुक करी राम सर प्रभ से हुआ निसंग रावण सभा सब देखी मार सभंग चंद्र रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय तो भगवान जो है वो हो अब देखो इतने लोग हैं विभीषण की तरफ देख करके कहते हैं तो देखो विभीषण दक्षिण आता देखो विभीषण देखो दक्षिण की आशा माने दिशा आशा माने तो आशा भी है लेकिन आशा के माने दिशा भी है तो देख विभीषण दक्षिण आशा दक्षिण दिशा की तरफ देखो धन घमंड दामिनी विलासा देखो खूब बादल आ गए हैं दक्षिण दिशा में और खूब उमड़ रहे हैं और दामिनी विलासा बिजली चमक रही है हाँ, बादलों के बीच में मधुर मधुर गई घन घोरा और ये बादल जो है गर्जना भी कर रहे हैं धीरे धीरे करके उसमें गर्जना भी बादलों हो रही है गर्ज रहे हैं बादल कोई वृक्ष जो है उपल कठोरा ऐसा लगता है कि उधर पानी बरस रहा है और उपल वृष्टि हो रही है फल वृष्टि के मैंने ओले जो है ऐसा लगा भगवान तो ये दक्षिण की दिशा देख करके ऐसे जैसे अनुमान लगाया हो इस प्रकार से बोले तो भगवान वैसे जानते हैं लेकिन विभीषण से कहलाना चाहते हैं इसलिए जो है विभीषण की तरफ भी बोल करके इनसे पूछा कि देखो दक्षिण इस प्रकार का ये सब दिखाई देता है तो विभीषण जैसे सुना ये सब बात भगवान क्या करें ऐसे विभीषण क्या कहता कहा तो विभीषण सुनो कृपाला कहते भूषण करने लगे कृपा निधान भगवान सुनिए हो ही न कल मतलब इसमें बार माला कहते वहाँ कहाँ बादल वहाँ बिजली की वहाँ नहीं है आप बिजली समझ रहे हो कि बिजली चमक रही है और बादल आ गए वो सब नहीं है फिर कई लंका शिखर ऊपर आवारा वहाँ पे लंका की जो है वो उसकी सबसे ऊपरी जो चोटी है उसके ऊपर अखाड़ा लगा हुआ रावण का वहाँ एक भवन है उसमें भवन में रावण बैठा हुआ है कहाँ खत्म कर देखे अकारा और वहाँ रावण जो है अपने अखाड़ा देख रहा है अखाड़ा देख रहा है तो वहाँ अखाड़ा में सब ये सब कैसे लग रहा है के समान तो कहते हैं छत्र में जगम्बर सिर भारी वो रावण अपने सिर के ऊपर एक छत्र लगा रहे थे और ये छत्र बहुत बड़ा छत्र है मेघदम्बर मन उसे जो मेघ हो बात दूर तक इस प्रकार बड़ा भारी मेघदम्बर कहलाता बड़ा छत्र जो है वो मेघदम्बर कहलाता है तो वो मेघ के समान होता है काला भी मेघ के समान और बड़ा भी होता है इसलिए उस समय लगाए हुए छत्र लगाए हुए बैठा हुआ है तो वो जो छत्र जो है वो बड़ा भारी उसका निर्दम्बर जो है वही बादल के समान लगता है और बस वही जन जलद घटा अधिकारी कहते बस उसी के समय में तो बादलों की काली घटा जो है वो आपको लग रही होगा और मंदोदरी श्रमण का और रावण के पास ही मंदोदरी बैठी हुई तो मंदोदरी के कान में कान में जो बहने जाते हैं कर्णफूल तो वो ताटंक चलाते हैं तो वो कान में कर्णफूल ताटंक पहने हुए है वो चमक रहे तो मंदोदरी जिस तरह गजर करती है तो उसके कारण से जो वो है वो चमकते हैं उसके <clears throat> मन लगे हुए उनमें तो बिजली की तरह समझते हैं सोई प्रभु जन दामिनी दमन तो ये भगवान ये समझ लो कि बस वही बिजली चल सक <clears throat> तो बादल नहीं कुछ और है बिजली नहीं कुछ और है इस प्रकार ये भारत क्या उतरावण विभीषण ही जानता है विभीषण मन का रहने वाला विभीषण रोज देखता है रावण की क्या लीला है कहाँ रात्र को जाता है शाम को बैठता है कैसे उसका अखाड़ा लगता है कैसे क्या करता है वो सब उसका देखा हुआ है इसलिए अब यहाँ से उसका जो है वर्णन करना देखा हुआ उसका वर्णन दूर से अनुमान करो तो गलत अनुमान लग सकता है भ्रांति हो सकती लेकिन जैसे पास से देखा हुआ है तो उसको यथार्थ बात दिखाई देगी दिखाई देगी तो बता दिया कि बात इस प्रकार से है कोई प्रभुजन दान का और बाद काल प्रदंड का और रावण के गर्भपात में बैठे हुए लोग बाग कोई तो मंजीरा बजा रहे हैं कोई मदन बजा रहे हैं कोई बीना बजा रहे हैं तो उनके जो बाजे बज रहे हैं उनकी जो वो हो आवाज जो वो हो आपको कान में सुनाई पड़ती आप समझ रहे हो मेघ गर्ज रहे मेघ की गर्जना थोड़ी बाजे बज रहे हैं बाजे काल मृदंग अनूठा सोई रब मधुर सुनम स्वरूपूता स्वरूप भगवान सुनिए वही उसके मधुर रब जो है वो हो योग के लिए आप जो कहते हैं मधुर मधुर कर गई जनवर अरे सोई रब मधुर सुनो वही आवाज जो उनकी बातों की वही आवाज आपको सुनाई इस प्रकार का विभीषण बताया कि ये सब क्या है तब भगवान ने देखा अच्छा रावण जो है उस समय जबकि उसको रावण को मालूम हो गया खबर भी पहुंच गई उसके पास तक मैंने बानरों ने काट के कई निशाचरों को रावण के दरबार तक उनको भिजवा भी दिया और रावण को पता भी लग गया कि इतने बानर सेना और हम सब यहाँ आ गए लेकिन रावण इतना निर्भय होकर के वहाँ अखाड़े में कटा हुआ है और इस प्रकार के अपने आप के समान कोई समझता ही नहीं किसी को तो रावण का ये अहंकार है तो कहते हैं प्रभु मुस्कान समझ अभिमाना भगवान इसको भी देखो रावण का कैसा अहंकार यद्य रावण का सब झूठा अहंकार है लेकिन भगवान देखते हैं देखो अहंकार होता तो व्यक्ति कैसे जीना करता है क्या करना है दोनों उसके अहंकार को मिटाने के लिए उपाय रखा और क्या करते हैं भगवान की चाप चढ़ाए मान समझाना ये भी मानो जो भगवान कर रहे हैं कृपा निधान की बात हो आप देखेंगे दक्षिण जिसे अवलोक प्रभु बोले कृपा निधान ये कृपा निधान का कार्य है कि दक्षिण दिशा में रावण की उनकी खबर ली और रावण को भी एक प्रकार से जैसे मंदोदरी समझाती है जैसे और और लोग विभीषण समझाते हैं ऐसे ये भगवान राम का समझाना है वो भी समझाते हैं रावण को ये कृपा है उसकी कृपा ये कि समझ जाए अभी समझ जाए तो कुछ हर्ज नहीं तो भगवान क्या करते हैं और कृपा निधान कैसे है आप ध्यान दोगे थोड़ा सा तो अपने आप समझ में आ जाएगा भगवान कहते हैं कि चाप चढ़ाए बान समझाना धनुष हाँ, तो के ऊपर जो बाढ़ हाथ में लिए हुए थे उन्होंने उसके ऊपर धनुष के ऊपर चढ़ाया और वो बाढ़ चला वहां से छूटा और दक्षिण दिशा में गया और जहाँ रावण था वहां पहुंचा लेकिन वो बाढ़ क्या काम करता है बड़ा सफाई का काम करता है जितना बाढ़ को आदेश है उतना ही काम करता है तो क्या करता छत्र मुत पाटन के सब हटे हुए कही बांध वो एक बांध हो गया तो उसका जो छत्र एक डम्बर छत्र भारी ताला लगाए हुए था वो कट गया और गिर गया रावण जो अपने दसों सिर के ऊपर दस मुकुट धारण किए हुए थे वो दसों को खटखट खटखट जमीन पर गिर पड़े मंदोदरी के कान में जो अपने काटन पहने हुए थे चंचना रहे थे वो बाढ़ लगे तो वो कान से झड़ गए कितना काम एक पान देखो न मंदोदरी के कान कटे न रामा का सिर कटा है न इतने वहां बैठे किसी के घाव लगा हम्म? केवल <clears throat> ये उसका जो छत्र लगाना उसका मुकुट धारण करना मंदोदरी के कानों में उनका काटन का चमकना ये सब अभिमान के सूचक थे तो जो जो अभिमान के प्रतीक थे उनको सबको भगवान ने सबको जाना छत्र मुकुट कातन तब हती हुई कभी बान सबके देख मल पड़े मरम न को जान लेकिन बाण किसी को नहीं दिखाई दिया सब अपने गाने नाचने में सब लगे हुए थे रावण का भी ध्यान दूसरी तरफ था और बाण पहुंचता है तो वो भी बाण माने एक प्रकार का अजस्व बाण वो जाता है और ये सबको गिरा देता है ये सबके सब गिर जाते हैं और कोई देखता नहीं कैसे गिर गए मुकुट कैसे गिर गए दुश्मन लोग काम के कर्म पूरे कैसे कर ये कैसे गिर गया ये कहना मुझे छत खाता लगा छत्र लगा हुआ था कैसे गिर गया तब गिर गए तो गिरे पड़े तो सबको दिखाई दिए जैसे भगवान राम ने धनस तोड़ा जो जनकपुरी में ये तो उठावत तो क्या फैसत डाले बारह लगे देखते देखते सब हजारों देखते हैं लेकिन ये कोई नहीं देख पाता कब उठाया और कब चढ़ाया और कब टूट गया ऐसे बाण आता है कम लगता है उसमें छत्र में कम लगता है मुकुट में कम लगता है काटंक में और कैसे वो बाण गिरता और वो बाण को नहीं देख पाता है बस गिर गिरे सब देते हैं घा जब गए अरे के सबके देखत नहीं पड़े मरम न को जान अस कौतुक करे राम सर सर्द से हुआ बस वो बाण वहां से चला लौट करके आया आकर के भगवान के तर्कस में प्रवेश हो गया ये भगवान के राम के बाणों की विशेषता है इनको भगवान राम को युद्ध करने के लिए अपने बाढ़ गाड़ी भर देकर के नहीं चलने पड़ती युद्ध कर रहे हो तो गाड़ी लगा और धो धो करके बाढ़ लाओ और फिर उसके ऊपर बाढ़ चढ़ा महाभारत में युद्ध होता है तो बैलगाड़ियाँ चलती और बाढ़ लाद लाद करके जब मैंने फैक्ट्री फैक्ट्री भी सब बनते थे वो सब आ करके सप्लाई किया जाते थे सब सब जितने जितने योद्धा थे उनके सबके तर्कस में बाढ़ बराबर भरे रहो सब लोग लगा दो और बाढ़ खत्म हो जाए तो उतनी देर तक जब तक दोबारा पानी में मिले तब तक तलवार अखबार चलाओ भाला आला चलाओ कुछ और करो जब बाढ़ फिर उनके कर्कस में आ जाए तब फिर वो शुरू करें अपने बाढ़ चलाना शुरू करें <clears throat> लेकिन यहाँ भगवान राम के जो बाण है वो कर्कस ऐसा अच्छे तो और अर्जुन का भी ऐसे ही था अर्जुन के महाभारत युद्ध भर में सबके बाण जितने थे उनके सबकी सप्लाई किया जाते सब होते थे केवल अर्जुन के पास एक प्रकार का तर्क था जिसके कि बाण निकालते जाओ चलाते जाओ निकालते जाओ चलाए कभी खत्म नहीं होते थे और जिसको मारते तो लोग करके उसके तर्क में चला जाए उसी प्रकार से भगवान राम का बाण है ये ये धनुष है बाण है और कर्कश है आकर के वो बाण लौट आता है लौट करके फिर प्रविष्ट हो जाता है बूमरंग एक सुना होगा ऑस्ट्रेलिया का कि बूमरंग उस प्रकार के जैसे लोग जो है वो चरवाहे लोग रखते हैं घोड़े पर चढ़ करके घरों को घुसराते हैं उनके पास एक बूमरंग घुटा मारते हैं फिर हो जाता है और जहाँ पर जिस घर को मारना वो लाग मारता है कुछ करता है उसको लौट करके आता है और उसी के पास आ जाता है इस प्रकार के भगवान के धनुष बाण भी इसी प्रकार के घूम रहेंगे लौट करके आ जाते हैं असत करे राम सर प्रभु से उगा रावण सभा हंस सब देश महारथ भंग सब लोग चौंक गए देख करके और ये तो महारथ भंग हो गया रावण इतना आनंद ले रहा था उसके जाने बजाने नृत्य इत्यादि का साफ सभा हो गई सब कर गए भाषु खड़ा कर खड़े हो गए ये क्या हो गया ये क्या हो गया अब आगे देखते हैं कि रावण क्या करता है रावण सबको समझा देता है अरे ये कोई बात है थोड़ी इसमें बड़ा चला रहे ऐसा रावण अहंकारी रावण जो वो अपने इस बात को भी यानी भगवान ने इस प्रकार को जो इस प्रकार से अपना पान रूपी दूध भेजा और रावण को समझाने की कोशिश की रावण उस बात को भी मानता नहीं अरे बात ऐसे था धान्या स्त्रिया रघुपते हृदय मदिये सत्यम वादा च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानुषं च श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम जय राम